Tao Te King, chapter 33, entitled Knowing Oneness, Oneself. He who knows others is learned. He who knows himself is wise. He who conquers others has power of muscles. He who conquers himself is strong. He who is determined has a strength of will. He who doesn't lose his center endures, and he who dies yet his power remains has long life. हिंदी में अध्याय तैतीस आत्मबोध जो दूसरों को जानता है वो विद्वान है और जो स्वयं को जानता है वह ज्ञानी है जो दूसरों को जीतता है वो पहलवान है और जो स्वयं को जीतता है वह शक्तिशाली जो संतुष्ट है वह धनवान है और जो दृढ़मत जो दृढ़मती है वह संकल्पवान जो अपने केंद्र से जुड़ा रहता है वह मृत्युंजय है और जो मरकर जीवित है वह चिर जीवन को उपलब्ध होता है ताओ है सागर की भांति नदियां सागर से पैदा होती और सागर में पुनः खो जाती ताओ से अर्थ है उस मूल उद्गम का जहां से जीवन पैदा होता है और उस अंतिम विश्राम का भी जहां जीवन उल्लीन हो जाता है आदि भी है और अंत भी प्रारंभ भी वही है और समाप्ति भी वही ये जो तारों का केंद्र है या धर्म का या सत्य का इससे हम जन्म के साथ ही लेकर पैदा होते हैं वो हमारे जन्म के पहले ही मौजूद है और उसे हम अपने साथ लेकर ही मरते हैं वो मृत्यु के बाद ही हमारे साथ यात्रा पर होता है जो हमारे भीतर न कभी जन्मता है और न कभी मरता है वही धर्म है और उसे जान लेना ही जानने योग्य है इस सूत्र में उस आंतरिक केंद्र की तरफ बहुत बहुमूल्य इशारे पहला इशारा जो दूसरों को जानता है वह विद्वान है और जो स्वयं को जानता है वह ज्ञान है दूसरों को जानना बहुत आसान है क्योंकि दूसरों को जानने के लिए इंद्रिय काम में आ जाती आंख है मेरे पास मैं आपको देख सकता हूँ लेकिन ये देखने वाली आंख स्वयं को देखने के काम न आएगी कान है मेरे पास मैं आपको सुन सकता हूँ लेकिन ये कान स्वयं को सुनने के काम न आएगी हाथ है मेरे पास मैं आपको छू सकता हूँ लेकिन मेरे ही हाथ है मैं स्वयं को छूने में असमर्थ इंद्रिय दूसरे को जानने का द्वार इंद्रिया हमें उपलब्ध है हम दूसरे को सहजता से जान हैं और दूसरे को जानने की इस दौड़ में हम ये भूल ही जाते हैं कि हम स्वयं से अनजान रहते हैं स्वयं के संबंध में भी जो हम जानते हैं वो भी हम दूसरों के द्वारा ही जानते हैं अगर आप सोचते हैं कि आप सुंदर हैं तो ये दूसरों ने आपसे कहा है कि आप सोचते हैं कि आप विचारशील हैं ये भी दूसरों ने आपसे कहा है कि आप सोचते हैं कि आप बुद्धिहीन हैं तो ये भी दूसरों ने आपको समझाया है आपकी स्वयं के संबंध में जो जानकारी है वो दूसरे के माध्यम से दूसरे के द्वारा उपलब्ध हुई है इसलिए हम स्वयं की जानकारी पर भी दूसरे पर निर्भर रहते हैं और दूसरे से भयभीत भी रहते हैं अगर मेरा सौंदर्य आपके ऊपर निर्भर है तो मैं भयभीत रहूंगा क्योंकि तो आपकी नजर की जरा सी बदलाव और मेरा सौंदर्य खो जाएगा और अगर मेरी बुद्धिमानी आपके आधार पर बनी है आप कभी भी ईटे बुनियाद की खींच ले सकते और मेरी बुद्धिमत्ता खो जाएगी मेरी प्रतिष्ठा में अगर आप कारण हैं तो वो कोई प्रतिष्ठा ही नहीं वो गुलामी है अगर मेरी प्रतिष्ठा किसी पर भी निर्भर है तो मैं उसका गुलाम हूं और गुलामी की क्या प्रतिष्ठा हो सकती स्वयं के संबंध में भी हम दूसरे के माध्यम से जानते हैं इसलिए स्वयं के संबंध में जो भी हम जानते हैं वो गलत है फिर और भी कारण समझ लेने जरूरी है मैं आपको जान सकता हूं मेरे पास इंद्रिया है मन है आंख से देख सकता हूं मन से सोच सकता हूं लेकिन स्वयं को जानने में न तो इंद्रियां काम आएंगी न तो आंख काम आएगी और न मेरा मन ही काम आएगा क्योंकि दूसरे के संबंध में सोचा जा सकता है स्वयं के संबंध में कुछ भी सोचा नहीं जा सकता और जब तक आप सोचते हैं तब तक स्वयं से कोई संबंध नहीं होता क्योंकि जब तक आप सोचते हैं तब तक आप स्वयं के बाहर होते हैं विचार जब तक मौजूद होता है तब तक आप अपने आंतरिक केंद्र पर नहीं है परिधि पर घूम रहे क्योंकि विचार भी एक बेचैनी विचार एक तनाव है कहीं कि विचार एक तरह का ज्वर है एक बुखार है एक आंतरिक उद्वेग इसलिए अगर विचार तेज चल रहे हो तो रात आप सो नहीं सकते क्योंकि विचार विश्राम नहीं और स्वयं के आंतरिक केंद्र पर तो परम विश्राम की अवस्था में ही कोई पहुंचता है जितना तनाव होता है उतनी दूरी होती है इसलिए पागल स्वयं से सर्वाधिक दूर होता है पागलपन का अर्थ ही यह है कि आपसे अब स्वयं के सारे संबंध छूट गए हैं अब आपकी कोई भी जड़ अपने केंद्र में न रही अब आप उखड़ गए अपरूटित जमीन से जड़ अलग हो गई पागल अपने से सर्वाधिक दूर है क्योंकि पागल का विचार एक क्षण को भी बंद नहीं होता चलना ही रहता है सदर आप भी अपने से उसी मात्रा में दूर हैं जिस मात्रा में आपके भीतर मौन की कमी विचार से मैं दूसरे को जान सकता हूं लेकिन विचार से स्वयं को नहीं जान सकता इसलिए सब बुद्धिमत्ता जिसको लाभ से ने कहा है विद्वता विचार पर निर्भर होती है और ज्ञान निर्विचार पर निर्भर होता है इसलिए हम बुद्ध को विद्वान नहीं कह सकते हैं महावीर को विद्वान नहीं कह सकते अरिस्टोटल तो विद्वान है प्लेटो विद्वान है बुद्ध और महावीर विद्वान नहीं ज्ञानी जो फर्क है विद्वता विचार का जोड़ और ज्ञान निर्विचार की स्पूर्ण जहां सब इंद्रियां शांत होती क्योंकि इंद्रियों से दूसरे को जान सकते हैं और जब तक इंद्रियां अशांत हो तब तक बाधा डालेगी क्योंकि उनकी अशांति बाहर ले जाएगी इंद्रियों की अशांति बाहर ले जाएगी वे बाहर जाने वाले द्वार तो जब तक मन चल रहा है तब तक भी स्वयं को न जान सकेंगे क्योंकि मन का चलना परिधि पर रोके रखेगा जब इंद्रियां चुप हो गई और मन भी मौन हो गया और जब भीतर कोई गति ना रही किसी तरह का हलन चलन न रहा कोई स्पंदन न रहा कोई लहर न रही जब भीतर आप मात्र रह गए जहां कुछ भी नहीं हो रहा है कोई कर्म नहीं हो रहा है भीतर पूर्ण अकर्म हो गया उस क्षण में आपको अपने केंद्र से विच्युत करने को कोई भी ना रहा कोई लहर आपको बाहर नहीं खींच सकती उस क्षण ज्ञान का जन्म है विद्वान होना हो शास्त्र सहयोगी है शिक्षण उपयोगी है सीखना जरूरी है ज्ञानी होना हो शास्त्र खतरनाक बाधा शिक्षा व्यर्थ ही नहीं हानिकर सीखने की कोई सुविधा नहीं अन सीखना करना होता है लर्निंग नहीं अनलर्निंग जो सीखा है उसे भी भूल जाना होता है जो जाना है उसको भी त्याग कर देना होता है और ध्यान रहे जगत में ज्ञान का त्याग बड़ा मुश्किल है धन छोड़ा जा सकता है पद छोड़ा जा सकता है क्योंकि पद को छोड़ने में भी बड़े पद के मिलने की आशा अब धन को छोड़ने में भी महाधन को पाने की संभावना है क्योंकि धन भी सोचता है मन में कि गरीब सुखी धनी भी सच तो यह धनी ही गरीब तो कभी नहीं सोचता कि गरीब भी सुखी है धनी अक्सर सोचता है कि गरीबी में बड़ा सुख है ठीक वैसे जैसा गरीब सोचता है कि अमेरिका में बड़ा सुख जो हमारे पास में उसमें सुख दिखाई पड़ता है लेकिन बड़े मजे की बात है कि अगर गरीब सोचता है कि अमीरी में सुख है तो ज्ञानी तथा कथित विद्वान ज्ञानी नहीं कहना चाहिए वो उसको समझाते हैं कि तू पागल है लेकिन अगर धनी सोचता है कि गरीबी में सुख है तो यही महात्मा गांधी उसको नहीं समझाते कि तू भी पागल है बात तो उनकी एक चीज है जो उनके पास नहीं है उसमें सुख दिखाई पड़ता है न तो गरीबी में सुख है न धनी होने में सुख है सुख सदा आशा है वहां जहां हम नहीं है और जहां हम हो जाते हैं वही दुख हो जाते धनी धन छोड़ सकता है क्योंकि गरीबी में सुख की आशा बनी पद छोड़े जा सकते हैं क्योंकि पदों को छोड़कर भी बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है सच तो यह है कि पदों को छोड़ के ही प्रतिष्ठा मिलती है जो प्रतिष्ठा पाने की कला जानता है वो पद को छोड़ देगा क्योंकि पद छोड़ते से ही आपको लगता है कि यह आदमी पद से बड़ा हो गया ये भी सकता छोटा आदमी तो पद को पकड़ता है ये पद को लात मार सकता है सिंहासन को लात मार सकता है यह आदमी सिंहासन से बड़ा होगा लेकिन जो छोड़ रहा है वो भी गणित जमा सकता है उसको भी पता है कि छोड़ने में भी लाभ है धन छोड़ने में अड़चन ज्यादा नहीं पद छोड़ने में कठिनाई ज्यादा नहीं लेकिन ज्ञान छोड़ने में बड़ी कठिनाई है क्योंकि अज्ञान में कोई भी आशा नहीं बनती और लाभ से जैसे थोड़े से परम ज्ञानियों को छोड़कर अज्ञान की कोई शिक्षा भी नहीं देता अज्ञान से तो हम परेशान हैं तो ज्ञान से अपने को भर रहे हैं ये जो ज्ञान से भरना है ये आपको विद्वान बना देगा तो विद्वान वो अज्ञानी है जिसने अपने को उधार ज्ञान से भर लिया अज्ञान मिटता नहीं सिर्फ दबका है जिससे आप नग्न हैं और वस्त्र पहन लिए तो नग्नता मिटती नहीं है सिर्फ ढकती है अब किसी को दिखाई नहीं पड़ती और किसी को ना दिखाई पड़े ये तो ठीक ही है आपको भी दिखाई नहीं पड़ती जो कि चमत्कार है क्योंकि कपड़े आपके बस है दूसरों की आंखों पर वो कपड़े आपके ऊपर नहीं है वेटिकन का पोप जब किसी को मिलता है तो विशेष वस्त्र पहनने होते हैं स्त्रियों हो तो सिर ढांकना होता है पुरुष हो तो सिर ढांकना होता है खास तरह के कपड़े सादे पहन के प्रवेश करना होता है एक बार अमरीकनों की मंडली वेटिकन का पोप दर्शन के लिए गई तो जिस आदमी ने उन्हें समझाया कि आप कैसे कपड़े पहने कैसे भीतर खड़े हों कैसे नमस्कार करें वो भी उनको समझाने से थोड़ा व्यथित था और उसने भी कहा कि क्षमा करना मजबूरी है मैं इसी काम पर नियुक्त हूँ यही मेरी रोटी रोची है लेकिन लोगों को समझाते समझाते मैं परेशान हो गया और मेरे मन में भी कभी होता है कि इससे तो बेहतर होता है एक पट्टी वो की आंख पर ही बांध दी जाती है वो सरल होती बजाय इतना उपद्रव लेकिन ये इतना बड़ा उपद्रव भी दूसरे की आंख पर पट्टी का ही काम करता है इससे ज्यादा का काम नहीं करता पट्टी बड़ी है लेकिन आंख दूसरे की है उसको भर रुकावट डालती है उसको पता नहीं चलता कि आप नग्न हैं लेकिन आप तो नग्न हैं विद्वान भी दूसरे की आंखों में विद्वान मालूम पड़ता है अपने भीतर तो अज्ञान ही होगा नग्न ही होगा लेकिन जैसा आप चमत्कार कर लेते हो कपड़े पहन के सोचते हैं आप नग्न नहीं वैसा ही पंडित भी चमत्कार कर लेता है शब्दों को और के सोचता है कि अब अज्ञान समाप्त हुआ अब मैं ज्ञानी हुआ और इन शब्दों में एक भी उसका अनुभूत नहीं है इसमें से कुछ भी उसने जाना नहीं इसमें से किसी का भी उसे स्वाद नहीं मिला इस सब कोरे उधार निर्जीव नपुंसक शब्द से क्योंकि शब्द में प्राण तो पड़ता है अनुभूति से शास्त्र से शब्द इकट्ठे कर लिए जा सकते हैं सरल काम है स्मृति सजाई जा सकती है जरा भी कठिन नहीं छोटे छोटे बच्चे कर लेते और बूढ़ों से ज्यादा अच्छा कर लेते ये सब बाहर से इकट्ठा किया हुआ बाहर को ही प्रभावित कर सकता है इसे स्मरण रखें तो पंडित आपको प्रभावित कर सकता है शायद ज्ञानी से आप प्रभावित ना भी हो क्योंकि बड़े मजे की बात है कि जमीन पर ज्ञानियों को तो बहुत बार सूली लगी पंडितों को कभी नहीं लगी ज्ञानियों पर तो पत्थर बहुत बार फेंके गए लेकिन पंडितों को किसी ने पत्थर नहीं मारा ज्ञानियों को तो बड़ी कठिनाई में भोगनी पड़ी लेकिन पंडितों को कोई कठिनाई का सवाल नहीं ज्ञानियों ने बड़ी निंदा झेली सब तरह की निंदा झेली लेकिन पंडित को कोई निंदा नहीं झेलनी पड़ती कारण क्या है पंडित के पास जो ज्ञान है उससे आप प्रभावित होते हैं वो बाहर से आया है और बाहर के लोगों को प्रभावित करता है ज्ञानी के पास जो ज्ञान है वो बाहर से नहीं आया वो भीतर से आया वो अनूठा है नया है अद्वितीय वो ताजा है कुआरा है उससे आपकी कोई पहचान नहीं तो जब ज्ञानी से आपकी मुलाकात होती तो आप बेचैनी में पड़ जाते आप उसको ठीक से समझ नहीं पाते या समझने की कोशिश में हमेशा गलत समझ पाते हैं क्योंकि वो जो कह रहा है इतना नया कि आपकी बुद्धि आपकी जानकारी उससे उसका कोई तालमेल नहीं बैठता वो कुछ ऐसी बात कह रहा है जिस जिससे आपका कभी कोई संबंध नहीं रहा तो ज्ञानी अजनबी मालूम पड़ता है पंडित आपका ही आदमी है जैसे आप वैसा ही वो आत्मा और उसमें जो फर्क है वो मात्रा का है गुण का नहीं आप थोड़ा कम जानते हो वो थोड़ा ज्यादा जानता है लेकिन एक ही कतार में खड़े हो वो क्यों मैं थोड़ा आगे आप थोड़े पीछे उससे कोई दुश्मनी नहीं मालूम होती उससे गहरी मैत्री मालूम होती ज्ञान से सदा दुश्मनी मालूम होती क्योंकि वो आपकी पंक्ति में खड़ा भी नहीं और वो जो जो भी कहता है वो खतरनाक मालूम होता है क्योंकि वो जो भी कहता है उससे आपका जो भवन है वो गिरता है वो जो भी कहता है उससे आपका ज्ञान अज्ञान सिद्ध होता है वो जो भी कहता है उससे आपकी जानकारी व्यर्थ होती वो आपसे छीनता है वो आपको तोड़ता है वो आपको मिटाता है ज्ञानी सदा विध्वंसक मालूम होता है पंडित हमेशा निर्माणकारी मालूम होता है क्योंकि वो सिर्फ आपको आगे बढ़ाता है वो आप में कुछ जोड़ता है पंडित आपको कुछ देता हुआ मालूम पड़ता है ज्ञानी आपसे कुछ छीनता हुआ मालूम पड़ता है इसलिए ज्ञानी के पास केवल वही लोग टिक सकते हैं जो अति साहसी जो कि निगत अज्ञानी होने को तैयार लेकिन अगर आप ज्ञान की तलाश में गए तो पंडित ठीक जगह वो आपको ज्ञान देगा वहां से आप ज्ञान इकट्ठा कर दे सकते अगर आप ज्ञानी के पास गए हैं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे पहले तो वो आपसे छीन लेगा सब कुछ जो भी आपके पास वो आपको सब भांति निर्धन कर देगा वो भीतर से आपको सब भांति दरिद्र कर देगा जीसस ने शब्द उपयोग किया है पुअर इन स्पिरिट वो आपकी आत्मा तक को गरीब कर देगा लेकिन उसी गरीबी से उसी परम दारिद्र से उसी परम अज्ञान से ज्ञान का जन्म होता है ये बड़ा विरोधाभासी है क्योंकि हम तो सोचते हैं ज्ञान एक संग्रह है ज्ञान संग्रह नहीं है जो भी संग्रह है वो विद्युता है पांडित्य बौद्धिक कुशलता है होशियारी है चालाकी है ज्ञान का उससे कोई लेना देना नहीं ज्ञान तो एक जन्म है संग्रह नहीं जिसे मां के पेट में बच्चा जन्मता है वैसा ज्ञान भी एक जन्म है बच्चे को आप संग्रहित नहीं कर सकते कि कहीं से एक टांग खरीद लाए कहीं से एक हाथ खरीद लाए कहीं से एक सिर इकट्ठा कर लिया फिर सब जोड़ कर तैयार कर लिया ऐसा अगर बच्चा आप जोड़ कर तैयार कर ले तो वो जैसा मुर्दा होगा वैसा ही पंडित का ज्ञान होता है कहीं से वो पैर ले आया कहीं से हाथ ले आया कहीं से सिर ले आया उसने ठीक प्रतिमा निर्मित कर लेकिन प्रतिमा मुर्दा है क्योंकि जीवन को जन्म देना संघर्ष नहीं होता और जैसे मां को गुजरना पड़ता है पीड़ा से ठीक वैसे ही ज्ञानी को भी गुजरना पड़ता है ज्ञानी की तलाश एक पीड़ा है एक आत्म प्रसव है इस आत्म प्रसव का पहला चरण है ये समझ लेना कि जो भी बाहर से जाना गया है वो ज्ञान नहीं ये समझ भी बड़ी मुश्किल है क्योंकि तत्काल हमें लगता है हम दरिद्र हो गए क्योंकि जो भी हम जानते हैं वो सब बाहर से जाना हुआ है कभी आप सोचते हैं एकांत में कि आप जो भी जानते हैं उसमें कुछ भी आपका है भय लगता है ऐसी बात ही सोचने से भय लगता है क्योंकि आप सोचेंगे तो पसीना शुरू हो जाए हाथ पैर भीतर अपने लगेंगे कुछ भी नहीं है जाना हुआ आपने इतनी दरिद्रता में जी रहे हैं लेकिन वो ज्ञान एक बहन एक भ्रम पैदा कर देता है उस भ्रम से ऐसा लगता है हम कुछ जानते हैं बड़े मजे की बात है जैसा दूसरे हमें ज्ञान देते रहते वो उधार ज्ञान हम इकट्ठा करके हम भी दूसरों को देते रहते ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये मूर्ता चलती ही चली जाती कोई बीच में रुक के ये नहीं कहता कि मुझे कुछ पता नहीं इधर मैं देखता हूं अभी एक जैन मुनि को कुछ दिनों पहले कोई मेरे पास ले आया दो भक्त उनके साथ थे मन ने इशारा किया कि आप बाहर जाए मुझे साधना के संबंध में कुछ एकांत बात भक्त बाहर चले गए मुनि ने मुझसे पूछा कि जो आप कहते हैं वही मैं भी कहता हूं लेकिन मेरा प्रभाव क्यों नहीं पड़ता कुछ रास्ता बताइए मैंने उनसे कहा कि जो आप कहते हैं वो हो सकता है मुझसे भी बेहतर करते हो लेकिन जब तक आप प्रभाव डालना चाहते हो तब तक बात सब व्यर्थ है तब तक उत्सुकता आपकी दूसरे में है स्वयं में नहीं आखिर प्रभाव डालने की आकांक्षा क्या है क्यों प्रभाव डालना चाहते प्रभावित क्यों करना चाहते हैं किसी को और किसी के प्रभावित होने से क्या होगा आंतरिक लाभ अहंकार बढ़ेगा लेकिन वो आंतरिक लाभ नहीं हानि अकड़ बढ़ेगी लेकिन वो अकड़ सहयोगी नहीं है बात का है तो मैंने उनसे कहा कुछ ऐसा करिए कि दूसरे बिल्कुल आपसे आप प्रभावित हो जाए दूसरे को प्रभावित करने की चेष्टा आप साधना कह रहे हैं अपने भक्तों से मुझे साधना के संबंध में कुछ पूछना ये साधना है और निश्चित ही आपको अपना कोई पता नहीं है इसलिए आप दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं क्यों हम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं ताकि उसकी आंखों से हमें हमारा पता चल सके कि हम कुछ हैं जब दूसरा प्रभावित होता है और उसकी आंख में चमक आती तो वो चमक हमें प्राण देती वैसे हमें इस प्राण उससे मजा आता रस आता शक्ति मिलती है वो बड़ा अद्भुत वाइटामिन है वैसा वैज्ञानिक अभी कोई वाइटामिन नहीं खोज पाए जो दूसरे की आंख में जो चमक आती है जो वाइटलिटी जो प्राण आपको मिलता है वैसा अभी तक कोई वाइटामिन नहीं खोजा जा सकता दूसरे में उत्सुकता मैंने उनसे कहा इसी बात का सबूत है कि आपको अपना कोई भी पता नहीं और आप दूसरों की आंखों से पता लगा के अपना परिचय निर्मित करना चाहते हैं कि मैं कौन पंडित दूसरों को प्रभावित करके सोचता है मैं ज्ञानी हो गया अगर मैं न जानता होता तो लोग प्रभावित कैसे होते लोग प्रभावित हो रहे हैं निश्चित ही मैं जानता हूं उससे जानने का बोध भी लोगों के प्रभावित होने पर निर्भर करता है ज्ञानी का भी प्रभाव होता है लेकिन ज्ञानी का प्रभाव ज्ञानी की आकांक्षा नहीं ज्ञानी का प्रभाव ज्ञानी का सहज परिणाम जैसे आदमी चलता है तो धूप में छाया बनती है ज्ञानी जब लोगों के बीच चलता है तो उसकी छाया पड़ती पड़ेगी पर वो छाया ज्ञानी की चेष्टा नहीं पंडित की चेष्टा है पंडित का सारा रस इसमें कि दूसरे प्रभावित हो जाए लाओस से कहता है जो दूसरों को जानता है वह विद्वान है और पंडित बलिभा के दूसरों को जानता है सच तो यह है कि वो दूसरों को ही जानता है और दूसरों को जानने के कुछ फायदे हैं क्योंकि दूसरों को मैनिपुलेट किया जा सकता है दूसरों को चलाया जा सकता नचाया जा सकता अगर आप उन्हें जानते डेल जी की बड़ी प्रसिद्ध किताब है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल लोगों को कैसे प्रभावित करें आज सारे जमीन पर ऐसी हजारों पुस्तकें लिखी जा रही हैं कि दूसरों को कैसे प्रभावित करें दूसरों के साथ कैसे सफल हो निश्चित ही दूसरे के साथ सफल होना है तो दूसरे को जानना जरूरी और दूसरे को जानना जरा भी कठिन नहीं है लेकिन स्वयं को जानना अति कठिन है और मैंने अभी तक ऐसी कोई किताब नहीं देखी जो कहती हो how to influence your how to influence others कैसे दूसरों को प्रभावित करें लेकिन कैसे स्वयं को प्रभावित करें कैसे स्वयं को जाने उसमें कुछ रस नहीं है किसी को कारण क्या होगा एक भ्रांति है हमारे मन में कि स्वयं को तो हम जानते भी हैं रह गया दूसरा वो अनजाना है उसे जानना है इस भ्रांति को तोड़ना जरूरी है आप स्वयं को नहीं जानते दूसरे को भला थोड़ा बहुत जानते हैं अपने को बिल्कुल नहीं जानते लेकिन कभी बहुत अजीब घटना घटती जो अपने को ही नहीं जानता वस्तुतः क्या वो दूसरे को जान सकेगा ये जरा और गहरे में उतरने की बात है जो अपने को ही नहीं जानता उसको दूसरे का भी जानना कितना सार्थक और अर्थपूर्ण हो सकता है जिसकी अपने संबंध में भी कोई अनुभूति नहीं है उसकी दूसरे के संबंध में जो भी जानकारी वो भी छिछली ही वो भी दूसरे के गृह में तो प्रवेश नहीं कर पाएगा उसके आसपास घूम सकता है उसके संबंध में कुछ जान सकता है उसको नहीं जान सकता उसका चेहरा कैसा है जान सकता है उसकी आंखें कैसी है जान सकता है उसका व्यवहार कैसे है जान सकता है आधुनिक मनोविज्ञान में एक स्कूल का नाम बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादी इन मनोवैज्ञानिकों की धारणा है कि आदमी के पास आत्मा जैसी कोई चीज नहीं सिर्फ उसका व्यवहार ही सब कुछ है भीतर कुछ है ही नहीं बस वो बाहर जो करता है उसी के जोड़ का नाम आत्मा तो अगर आप आदमी का पूरा व्यवहार जान लें तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं आपने आदमी को जानते हैं आप क्या करते हैं वही आप हैं अगर आपके करने को पूरा समझ लिया तो बात खत्म होगी भीतर कुछ है ही नहीं अगर ठीक से समझे तो ईश्वर का इनकार करना इतनी बड़ी नास्तिकता नहीं है जितनी बड़ी नास्तिकता व्यवहारवाद है क्योंकि तो वो ये कह रहा है कि सिर्फ कृत्य जो आप कर रहे हैं लेकिन ऐसा मत सोचना कि व्यवहारवादी कोई नई धारणा है आप में से सौ में से निन्यानवे लोग व्यवहारवादी हैं आप भी व्यक्ति को उसके कृत्य से पहचानते हैं और तो कोई पहचान नहीं आप देखते हैं एक आदमी चोरी कर रहा है इसलिए चोर और एक आदमी पूजा कर रहा है इसलिए संत आप भी देखते हैं कि क्या कर रहा है क्या है ये तो दिखाई पड़ता नहीं चोर के भीतर क्या है ये तो दिखाई पड़ता नहीं संत के भीतर क्या है ये तो दिखाई पड़ता नहीं चोर चोरी कर रहा है ये दिखाई पड़ता है संत प्रार्थना कर रहा है ये दिखाई पड़ता है और हो सकता है संत प्रार्थना करते समय चोर हो और चोर चोरी करते समय संत हो लेकिन वो बड़ी दूसरी मुश्किल बात वो पहचानना बहुत कठिन है सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन मरने के करीब तो उसने एक रात जबकि चिकित्सक कह चुके थे कल सुबह तक बचना बहुत मुश्किल है परमात्मा से प्रार्थना की कि मैंने जिंदगी भर प्रार्थनाएं की कभी कोई पूरी नहीं हुई अब ये आखिरी वक्त भी गरीब आ गया एक आखिरी प्रार्थना तो कम से कम पूरी कर दो और वो प्रार्थना ये है कि मरने के पहले मुझे देखने मिल जाए स्वर्ग और नर ताकि मैं तय कर सकू कि कहा जाना उचित तो आदमी बुद्धिमान था सब कदम सोच समझ के उठाना चाहिए नींद लगी और उसने देखा कि वो स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है प्रार्थना पूरी हो गई है स्वीकृत हो गई उसने भीतर प्रवेश किया वो देख लो बड़ी मुश्किल में पड़ गया क्योंकि जैसा सुना शास्त्रों में पढ़ा कि वहां शराब के किस्में रहते और अप्सराएं और सुंदर स्त्रियां और कल्प वृक्ष जिनके नीचे बैठ के सभी इच्छाएं तत्ण पूरी हो जाए वो वहां कुछ भी दिखाई ना पड़े अब बड़ा सन्नाटा था बड़ा बेरोनक सन्नाटा था और लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे कोई ध्यान कर रहा था कोई पूजा कर रहा था कोई प्रार्थना कर रहा था जो कि बड़ी घबराने वाली बात थी चौबीस घंटे उसने लोगों से पूछा कि क्या बस यही यहाँ होता था यहाँ तो कोई पूजा करता रहता है कोई प्रार्थना करता रहता है कोई ध्यान करता रहता है कोई शीर्षासन करता है कोई साधना बस यही चलता है स्वर्ग तो उसने कहा कि अच्छा हुआ सोचा मन में कि परमात्मा से पहले पूछ लिया तो बड़ा खतरनाक स्वर्ग मालूम सुंदर स्वर्ग हट गया आंख के सामने दूसरा द्वार खुला और नर्क के सामने कर द्वार खुलते ही ताजी हवाएं संगीत का स्वर नृत्य देखा तो स्वर्ग तो यहां था उसने कहा कि बड़ा धोखा चल रहा है जमीन पर बड़ा राग रंग था बड़ी मौज तो सोचा कि अच्छा हुआ जो पहले पूछ ले स्वर्ग तो यहां है फिर उसकी नींद लग गई और सुबह वो मर गए मर के जब उसकी आत्मा यम के दफ्तर में पहुंची तो वहां पूछा गया कि नसरुद्दीन कहां जाना चाहिए नसरुद्दीन मुस्कुराए यम भी मुस्कुराया नसरुद्दीन मुस्कुराया कि तुम मुझे धोखा ना दे सकोगे मैं तो देख सकूँ कि कहाँ जाना और नसरुद्दीन ने समझा कि यम इसलिए मुस्कुरा रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं नसरुद्दीन ने कहा कि मैं नर्क जाना चाहता फिर भी यम मुस्कुराता रहा तब उसने जरा बेचैन होने की बात उसने कहा कि सुना मैं नर्क जाना चाहता यम ने कहा निश्चित तुम नर्क जाओ मगर ये कोई अनूठी बात नहीं अक्सर लोग नर्क ही जाना चाहते हैं उस दिन तो अनूठी बात नहीं नर्क भेज दिया गया जैसे ही नृत्य के द्वार पर प्रवेश किया तो बड़ा हैरान हुआ चार शतान के शिष्यों ने उसको हमला बोल दिया उसकी मार पिटाई शुरू हो गई वो उसे घसीटने लगे कड़ाही की तरफ जहां आग जल गई तो उसने कहा कि अरे और अभी आधी रात की ही बात और जब मैं आया यहां तो सब हालत बदल गई ये तो फिर वही जो पुराने ग्रंथों में लिखा है वही हो रहा तो सरदान ने कहा कि जब तुम आए थे पहली दफा you had come as a tourist अतिथि यात्री की तरह आए वो उतना हिस्सा हमने आप लोगों को देखने के लिए बनाया ये असली नर्क आदमी जो व्यवहार से दिखाई पड़ रहा है वो असली आदमी नहीं है वो आपको दिखाने के लिए बना है वो जो आप कर रहे हैं वो आप असली नहीं है उस करने में दूसरे पे ध्यान पूजा कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं तप कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप जो भी कर रहे हैं वो आपका असली हिस्सा नहीं है करने में तो धोखा दिया जा सकता है व्यवहार आत्मा नहीं और दूसरे को तो धोखा दे नहीं सकते अपने को धोखा दे सकते क्योंकि करते करते आपको भी भरोसा हो जाता है कि जो मैंने किया है वही ना लोग अपने कर्मों के जोड़ को अपनी आत्मा समझ लेते हैं कर्मों का जोड़ आत्मा नहीं है कर्मों का जोड़ तो आत्मा तो बड़ी दूर है वो गंदी हो सकती है वो सुगंधित हो सकती है दूसरी बात लेकिन वो धूल है जो इकट्ठी हो गई है ये जो आप दूसरे के संबंध में जानते हैं वो भी दूसरे को जानना नहीं वो भी दूसरे का व्यवहार जानना लेकिन इस जानकारी का नाम लाव से करता है विद्वता है विद्वान होने से बचना और विद्वान होने से सावधान रहना अज्ञानी भी सुने गए हैं कि पहुंच गए अंतिम सत्य तक लेकिन विद्वान कभी नहीं सुने गए हैं और विद्वान भी तभी पहुंचता है जब वो पुनः अज्ञानी होने का साहस जुटा लेता है और जो स्वयं को जानता है वह ज्ञानी स्वयं को जानना क्या है किसी भी कृत्य से इसका संबंध नहीं क्योंकि सभी कृत्य बहिर्मुखी है आप जो भी करते हैं वो बाहर जाता है कोई करना भीतर नहीं रहा कृत्य मात्र बाहर जाते हैं जैसे पानी नीचे की तरफ बहते ऐसे कृत्य बाहर की तरफ बहते वो कृत्य का स्वभाव है तो आप जो भी करते हैं उससे स्वयं का ज्ञान न होगा ऐसा कोई क्षण आपको खोजना पड़ेगा जब आप कुछ भी नहीं करते उसी का नाम ज्ञान है ऐसा क्षण जब आप कुछ नहीं करते मात्र होते हैं जस्ट बीइंग सिर्फ होते अगर इतना सा शब्द आपके ख्याल में आ जाए सिर्फ होना और आप एक क्षण को भी 24 घंटे में इस होने की तलाश कर लें जब आप कुछ भी नहीं करते ना शरीर कुछ करता है न मन कुछ करता है आप सिर्फ होते श्वास चलती है शरीर में खून रहता है वो आपको नहीं करना होता ध्यान रहे जो आपके बिना किए होता है वो होता रहेगा खून बहता रहेगा पाचन चलता रहेगा सांस चलती रहेगी हृदय धड़कता रहेगा उसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता ऐसे भी आपको हृदय को धड़काते नहीं खून को चलाते नहीं वो चल रहा है वो प्रकृति का हिस्सा है जो प्राकृतिक है वो आपके भीतर चलता है और जो जो आपने निर्मित किया है वो सब बंद हो जाता है उस मोह छाने आपको पहली दफा अपने से परिचय होता है उस परिचय के लिए आंखों की कोई जरूरत नहीं हाथों की कोई जरूरत नहीं कानों की कोई जरूरत नहीं उस परिचय के लिए किसी इंद्री की कोई जरूरत नहीं वो परिचय अति है उस परिचय के लिए मन की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मन भी बाहर की व्यवस्था रखने का उपाय है बाहर कुछ भी करना हो तो मन की जरूरत है भीतर कुछ भी मन की जरा भी जरूरत नहीं मन हमारा दूसरे से संबंध है दूसरे से हमारा जो संबंधों का जाल है उसकी फैकल्टी उसका यंत्र है हमारे भीतर मन स्वयं से तो कोई संबंध का सवाल नहीं उठता वहां तो दो नहीं है जहां संबंध की जरूरत हो वहां तो अकेले ही हम असंबंधित अकेले महावीर ने उस अवस्था को प्रबल कहा अकेलेपन की वृत्ति कि वहां सिर्फ अकेलापन वहां कोई भी नहीं जिससे संबंधित हुआ जा सके इस कैबल्य को क्षण में जब सारा कृत्य बंद हो गया हो सिर्फ प्राकृतिक क्रियाएं चल रही हो और आप सिर्फ हो क्या होगा अनूठी घटनाएं घटती क्योंकि इस क्षण में भविष्य समाप्त हो जाता अतीत विलीन हो जाता सिर्फ वर्तमान रह जाता इस क्षण में दूसरों ने जो भी आपके संबंध में कहा है वो सब खो जाता है इस क्षण में जो भी आपने शास्त्रों से अन्यों से जाना है वो सब विलीन हो जाता है इस क्षण में तो आप जीवन ज्योति के साथ ही होते हैं इस सम, इस समय आत्मा क्या है ये सोचना नहीं पड़ता क्योंकि सोचना तो तभी पड़ता है जब आप जानते नहीं सोचते हम उसी संबंध में है जिसे हम नहीं जानते इस संबंध में तो साक्षात्कार होता है इस क्षण में तो हम आमने सामने होते ये जो आमना सामना है ये जो आत्म साक्षात्कार है लाओस से या उपनिषद या बुद्ध या महावीर या कृष्ण इसको ही ज्ञान का क्षण कहते हैं मूमेंट ऑफ नोइंग बाकी सब कचरा है विद्यता कचरा और कचरे का संग्रह जो स्वयं को जानता है वह ज्ञानी और जब तक आप स्वयं को न जान ले तब तक जानना कि आप अज्ञानी हैं क्योंकि ये ध्यान अगर बना रहे कि आप अज्ञानी हैं तो विद्यता का उपद्रव आपके भीतर पैदा न हो पाए अगर ये स्मरण बना रहे कि मुझे पता नहीं है तो पता करने की चेष्टा जारी रहेगी इस मुल्क में यह दुर्घटना भी थी अब उसे उलटाने का कोई उपाय नहीं इस मुल्क में यह बड़ी दुर्घटना घटी है और वो ये है कि हमें जीवन के सभी शक्तियों का पता आत्मा का ब्रह्म का ऐसा कुछ नहीं जिसका हमें पता नहीं या हम पैदा होते सांस हम पीछे लेते हैं ब्रह्म ज्ञान पहले मिल जाते यहां सभी को ब्रह्म ज्ञान है इसलिए ये मुल्क जितना अधार्मिक होता जा रहा है उसका हिसाब लगाना मुश्किल लेकिन अधार्मिक होने का कारण न तो पाश्चात्य शिक्षा है अधार्मिक होने का कारण न तो कम्युनिज्म का प्रभाव अधार्मिक होने का कारण कोई नास्तिकता की हवाएं नहीं अधार्मिक होने का कारण पांडित्य का बोझ है हर आदमी को पता है इसलिए खोज बंद हो गई है इसलिए कोई खोज पर नहीं निकलता आपको मालूम ही है पहले से ही तो अब खोज में क्या है अब खोज का कोई अर्थ ही नहीं ऊपर से कंठस्थ है गीता कंठस्थ है रोज उसका पाठ चल रहा है परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो सकते हैं धर्म की कोई भी परीक्षा हो आपको असफल करना मुश्किल आपको सब पता ही है ये सब पता का जो घाव पैदा हो गया है ये भाव खोज में बाधा बन जाए और इस अज्ञान की जो शुद्धता है वो नष्ट हो गई अज्ञान की शुद्धता बड़ी कीमत की चीज है अज्ञान का भाव विनम्र करता है खोज के लिए तत्पर करता है द्वार खोलता है हमारे सब द्वार बंद है हमारे सब बंद द्वारों पर शास्त्रों की कतार लग गई है कोई गीता से बंद किए हैं कोई कुरान से कोई बाइबल से कोई महावीर की मूर्ति अटका के दरवाजे को बंद किए हुए कि वहां दरवाजा ना खुल जाए लालसे का ये विचार ख्याल में रख लेना कि जब तक आपको स्वयं का कोई अनुभव नहीं है तब तक सब ज्ञान व्यर्थ है और उसको ज्ञान आप मानना मत जो दूसरों को जीतता है वह पहलवान है और जो स्वयं को जीतता है वह शक्तिशाली है दूसरों को जो जीतता है उसके पास शरीर उसके पास शरीर की शक्ति है स्वयं को जो जीतता है उसके पास आत्मा की शक्ति है दूसरे को जीतना बहुत कठिन नहीं है दूसरे के जीतने के लिए सिर्फ आपको थोड़ा ज्यादा पशु होना जरूरी है और कुछ नहीं है पहलवान का मतलब है कि जो आपसे ज्यादा पास है जिसके पास शरीर जंगली जानवर का दूसरे को जीतने के लिए पशु होना जरूरी है और जितनी वास्तविकता आप में हो आप उतना दूसरे को जीत सकते हैं तोड़ने की विध्वंस की हिंसा की स्वयं को जीतने के लिए बहुत मामला और है वहां पशु की शक्ति काम ना आएगी वहां शरीर की शक्ति भी काम ना आएगी सच तो यह है कि वहां शक्ति काम ही ना आएगी इसे थोड़ा समझ लें क्योंकि शक्ति का उपयोग भी दबाना है स्वयं को जीतने के लिए शक्ति काम ही ना आएगी दूसरे को जीतने के लिए शक्ति के अलावा और कुछ काम ना आएगा तो दूसरे को जीतने का जितना उपाय है वो सब शक्ति का फैलाव है अगर हम सब तरह की शक्तियों को देखें व्यक्ति अगर शक्तिशाली है तो दूसरों को दबाएगा उनकी गर्दन पर सवार हो जाएगा राज्य अगर शक्तिशाली है तो पड़ोसियों को हड़प लेगा जिसके पास ताकत है वो गैर ताकतवर को कम ताकतवर को सताएगा उसकी छाती पर सवार हो जाए ये ताकत बहुत रूपों की हो सकती है लेकिन शक्ति का स्वभाव है कब्जा करना दबाना सताना डोमिनेशन भीतर आत्मा को भी लोग शक्ति के द्वारा ही पाने की कोशिश करते हैं तब मुश्किल में पड़ जाते हैं जिस तरह पहलवान दूसरे से लड़ते हैं ऐसे ही कुछ लोग अपने से लड़ते हैं अपने से लड़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वहां लड़ाई का कोई सवाल नहीं है वहां लड़ाई से कुछ भी पाया नहीं जा सकता आपने देखा जानते हैं कि लोग साधना में लगे हुए लोग अपने शरीर को सताने में लग जाते वो अपने ही साथ पहलवानी कर रहे हैं अगर वो साधु लोग होते तो शैतान होते वो किसी और को सता रहे होते एक कम से कम उनकी बड़ी कृपा है कि वो खुद को ही सता रहे सताते हुए जरूर उनका रस सताने में अब वो अपने ही शरीर पर दुश्मन की तरह हावी हो गए ऐसे साधुओं के संप्रदाय रहे जो कांटों पर लेके अंगारों पर चल रहे हैं ईसाइयों में एक संप्रदाय था साधुओं का जो रोज सुबह अपने को कोड़े मारे और जो जितने ज्यादा कोड़े मारता उतना बड़ा तपस्व एक ऐसा संप्रदाय रहा है जो जूते पहनेगा जिनमें भीतर खीले लगे होंगे जो पैर में छिदे रहे कमर में बांध बांधेगा उस पत्ते में फट तो घाव बना गए और जितने ज्यादा खीले वाला साधु उतना बड़ा प्रतिष्ठित आपको इसमें दिक्कत होती है लेकिन आप भी यही काम कर रहे हैं लेकिन जिस काम से आप परिचित हैं आदि है वो आपको दिखाई नहीं पड़ता अगर साधु मोटर में चल के आ रहा है खत्म पैदल चल के आ रहा है चरणों में आपने शुद्ध कर दिया आप कर क्या रहे हो आपको पता है अगर साधु ठीक दोनों वक्त भोजन खा रहा है समाप्त आपका संबल छूट गया साधु भूखा मर रहा है आप सिर के लिए घूम रहे हैं आप कर क्या रहे हैं जूतों में खीले ठोक रहे हैं कमर में वो खीले बहुत साफ थे और ईमानदार ये खीले बहुत बेईमान और दिखाई भी नहीं पड़ते मगर इससे आप परिचित हो गए आदि हो गए आप साधु को सुख में देखने तो फौरन असाधु हो जाते साधु का दुख में होना जरूरी है क्या कारण होगा ये दुखवाद का क्या कारण होगा जितना सतारा हो साधु अपने को उतना साधु मालूम करता अगर अपने गाल नोच के उखाड़ रहा है तो लगता है कि तपस्वी है नग्न खड़ा है धूप पर तो लगता है तपस्वी है भूखा मर रहा है तो लगता है तपस्वी है जब उसके शरीर में हड्डियां हड्डियां रह जाए और तो सारा शरीर कृष्णकार होकर पीला दिखाई पड़ने लगे तब आप कहते हैं कि अब तपस्या का प्रभाव तपस्या का तेज अब प्रकट हुआ वो जो पीलापन प्रकट होता है मृत्यु के करीब उसका तपस्या का तेज जब सारा शरीर मुर्दा हो जाता है सिर्फ आंखें ही बचती है तब आप कहते हैं क्या जोत पर आप कर क्या रहे हैं आपकी आकांक्षा क्या है आप पर प्रभाव किस चीज का पड़ रहा है दुख का प्रभाव पड़ रहा है कोई अपने को सता रहा है आप उसमें रस ले रहे हैं और क्योंकि वो अपने में सताने वाला भी आपके रस में उत्सुक है वो अपने सताने को बढ़ाए चला जाता है क्योंकि जितना वो अपने को सताता है उतना आपका आदर बढ़ता है उतना उसके अहंकार की तृप्ति होती है एक बार आप तय कर लें कि महीने भर के लिए इस मुल्क में हम किसी खुद को सताने वाले आदमी को आदर नहीं देंगे आपके सौ में से निन्यानवे तक इसकी खोजे नहीं मिलेगी बाहर जाएंगे क्योंकि वो आपके आदर पर जी रहे हैं वो अपने को सता रहे हैं ध्यान रहे उसका पाप कर्म आपको भी लगेगा क्योंकि जिम्मेवार आप भी हैं वो खुद ही अपने को सता रहे हैं आप भी हाथ बैठा रहे हैं वो जो भी कर रहे हैं उसमें आप भी सहयोगी और साथी हैं शायद आप न आदर दें तो वो उपद्रव बंद हो जाए और अहंकार सब कुछ कर सकता है दूसरे से लोग लड़ते हैं समझ में आने वाली बात है दूसरे को जीतने का एक ही उपाय है उससे लड़ना और उससे ज्यादा ताकत प्रकट करना लेकिन स्वयं को जीतने का उपाय लड़ना नहीं है या आप बाहर की भाषा को भीतर ला रहे और जो बाहर सफल होता है वो भीतर सफल होगा इस भ्रांति में मत पड़ना जो बाहर सफल होता है वो भीतर असफल होगा क्योंकि दिशाएं बिल्कुल विपरीत और जो गणित बाहर कारगर है वो गणित भीतर बिल्कुल कारगर नहीं है इसलिए जो लोग बाहर की लड़ाई को अनुभव किए हैं और हम सब अनुभव किए जन्मों जन्मों तक जो जीवन का संघर्ष उसमें हमने जाना है कि ताकतवर जीतता है कमजोर हारता है हिंसा जीतती है तो हम दूसरे के साथ हिंसा करते रहे फिर हमें ख्याल आता स्वयं को जानने स्वयं को जीतने का कठिनाई है हमारी भाषा की क्योंकि भाषा भी हमारी हिंसा से भरी है हम दूसरे को जीतते हैं तो हमने भाषा में ये भी कहना शुरू किया स्वयं को जीतना स्वयं को जीतना मजबूरी का शब्द है क्योंकि और कोई शब्द नहीं है अन्यथा ये शब्द ठीक नहीं है क्योंकि यह जीत का सवाल ही नहीं जीत का सवाल ही हिंसा और शक्ति से जुड़ा हुआ है भीतर तो वही व्यक्ति जीतता है या भीतर तो वही व्यक्ति सफल होता है भीतर तो वही जानने में पहुंच पाता है ज्ञान में पहुंच पाता है जो लड़ता ही नहीं जो शक्ति का उपयोग ही नहीं करता जो शक्ति को बिल्कुल निरुपयोगी छोड़ देता इसे थोड़ा समझे क्योंकि शक्ति जब उपयोग की जाती है तो क्षीण होती है इसलिए बाहर जो भी लड़ता है वो रोज क्षीण होता है वो भला आज आपकी गर्दन पर सवार हो जाए लेकिन गर्दन पर सवार होने में उसने शक्ति खोई है कुछ शक्ति का उपयोग किया है पर सवार होने के पहले वो जितना शक्तिशाली था उतना अब नहीं मात्रा कम हो गई इसलिए अगर नीचे का आदमी जो नीचे गिर पड़ा होशियार हो तो लड़ने की जरूरत नहीं वो दूसरे आदमी को ही लड़ा के हरा दे सकता है तो जापान में ताओ के प्रभाव में एक कला विकसित हुई है जूडो जूडो इस बात की कला है कि जब आप पर कोई हमला करे तो आप उसको उकसाएं कि वो हमला करे आप उसको सब भांति उकसाए कि वो पागल हो जाए और आप शांत रहे और जब वो हमला करे तो आप उसके हमले को पी जाए वो आपको घूसा मारे तो आपका हाथ भी रेसिस्ट ना करे आप हाथ भी अकड़े ना कि उसके घूसे को रोकना आप हाथ को गद्दे की तरह तकिए की तरह बना लें उस पर घूसा हाथ पी जाए जूडो की कला कहती है उसके घूसने से ताकत आ रही थी वो आपका हाथ पी लेगा और ये सच क्योंकि जब आप हाथ को रोक लेते हैं शक्ति से तो आपकी हड्डी जो टूट जाती है वो उसकी ताकत से नहीं टूटती आपके रेसिस्टेंस से टूटती आपका जो अकड़ापन है वो तोड़ देता है अगर आप बिल्कुल अकड़े लोग देखे शराबी सड़क पर गिर पड़ता आप गिर के देखें आप हड्डी पसली तोड़ के घर आ जाइए शराबी जरूर कोई कला जानता है जो आप नहीं जानते क्योंकि वो कई दफ्तर गिर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा सुबह वो फिर दफ्तर चले जा रहे हैं न कोई हड्डी टूटी न कोई बात आखिर शराबी कौन सी कला जानता है जो आप नहीं जानते और वो बेहोशी में गिरे थे उनकी ज्यादा हड्डियां टूटना चाहिए आप होश में गिरे हैं आपकी हड्डियां नहीं टूटनी थी लेकिन जब आप होश में होते हैं तो गिरते वक्त आप रेसिस्टेंस से भर जाते आप अकड़ जाते हैं आप बचाव की कोशिश करने लगते उस कोशिश में और जमीन की टक्कर में हड्डी टूट जाती शराबी को पता ही नहीं कि वो गिर रहे कि जमीन उन पर गिर रही या कुछ हो रहा है वो ऐसे गिरते हैं इतनी सरलता से बिना किसी विरोध के कि जमीन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाती भीतर जो यात्रा है वो यात्रा बाहर की यात्रा से बिल्कुल भिन्न है बाहर आप लड़ेंगे आपकी शक्ति छीन हो रही आप कमजोर हो रहे आप दिखाई पड़ेंगे जीत के कि बड़े शक्तिशाली हो गए लेकिन आप कमजोर हो गए आपने कुछ खोया भीतर आप शक्ति का बिल्कुल उपयोग ना करें कोई उपयोग की जरूरत भी नहीं शक्ति को मौजूद रहने दें और आपकी शक्ति भीतर बढ़ती जाएगी बिना उपयोग किए हुए शक्ति एक आंतरिक समझौता बन जाती है और बिना उपयोग किए हुए शक्ति शांति बन जाती है शक्ति का जो बिना उपयोग किया हुआ रूप है उसका नाम ही शांति शांति कोई नपुंसकता नहीं वो कोई कमजोरी का नाम नहीं वो महाशक्ति का नाम है लेकिन जिसका उपयोग नहीं किया गया जिसने अपना घर नहीं छोड़ा जो अपने घर में ही विराज जो बाहर नहीं गई जिसमें तरंग नहीं उठी ऐसी जीव महाशक्ति उपलब्ध होती है लेकिन वो शक्ति उपयोग से उपलब्ध नहीं होती अनुपयोग से इसलिए लाओसे का सारा जो नाम एक्शन पर है वो कहता है कि तुम जितना क्रिया को शांत कर दो उतने महाशक्तिशाली हो जाओ और इस महाशक्ति में स्वयं का जानना और स्वयं की जीत अपने आप घटित हो जाती है ये कोई लड़ाई नहीं है ये तो सिर्फ शक्ति की मौजूदगी में घट जाता है जैसे सूरज निकलता है और फूल खिल जाते हैं तो इस सूरज को आके फूलों को खिलाना नहीं पड़ता सूरज निकलता है पक्षी गीत गाने लगते तो एक एक पक्षी के कंठ को खटखटाना नहीं पड़ता कि अब गीत गाओ सूरज कुछ करता ही नहीं उसकी मौजूदगी और जीवन संचरित हो जाता है जिस दिन आपके भीतर आप सिर्फ मौजूद होते शांत मौजूद जस्ट योर प्रेजेंट सिर्फ उपस्थिति आपकी उपस्थिति में जो महाशक्ति प्रकट हो जाती है विजय घट जाती भीतर की विजय कोई संघर्ष नहीं भीतर की विजय कोई युद्ध नहीं भीतर की विजय कोई दमन नहीं लाओस से कहता है जो दूसरों को जीतता है वह पहलवान और जो स्वयं को जीतता है वो शक्तिशाली जो दूसरों को जीतता है वो व्यर्थ ही अपनी शक्ति खो रहा है अखीर में उसके हाथ खाली रह जाएंगे अखीर में वो पाएगा उसकी मुट्ठियों में सिवाय राख के और कुछ भी नहीं और जो स्वयं को जीत लेता है वही वस्तु का शक्ति का उपयोग कर रहा है उसने जीवन ऊर्जा में जो भी छिपा था मूल्यवान सुंदर सत्य वो सभी पा लिया आप दो तरह का उपयोग कर सकते हैं शक्ति का एक तो बाहर दूसरों को जीतने में और एक भीतर स्वयं को जीतने में दोनों का गणित अलग है और दोनों का तंत्र अलग है दोनों के काम का दंग अलग है बाहर शक्ति को हिंसात्मक होना पड़ता है भीतर शक्ति को अहिंसात्मक होना पड़ता है बाहर शक्ति विध्वंस करती है भीतर शक्ति सृजनात्मक और आत्मसृजन स्वयं का आविष्कार लेकिन भाषा की मजबूरी है हम जो बाहर के लिए उपयोग करते हैं वही भीतर के लिए उपयोग करना लेकिन आप फर्क समझ लेंगे ये कोई जीत नहीं है क्योंकि यहाँ न कोई हारने को है भीतर और न कोई जीतने को है यहाँ दो नहीं है कि हार जीत हो सके इसलिए जो लड़ने में लग जाता है वो द्वंद में पड़ जाता है और उसका द्वंद उसे और भी रुग्ण कर देता है द्वंद्वग्रस्त सन्यासी साधक योगी चौबीस घंटे एक ही काम में लगा अपने से लड़ने के काम में लगा इस काम में कभी भी विजय आती नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा वहां दो नहीं और इस लड़ने में वो अपनी शक्ति खो रहा है इधर मैंने अनुभव किया एक युवक मेरे पास आया कोई दस पंद्रह वर्ष हो गए होंगे उस समय उनकी उम्र कोई पैतीस चालीस के बीच में रही होगी साधक बड़ी तीव्रता से खोजने लगे हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी तक मैं अपने को काम वासना से रोक रहा हूं लड़ रहा हूं ब्रह्मचर्य को साधने की कोशिश कर रहा हूं क्या मैं इसमें सफल हो जाऊंगा मैंने उससे कहा कि पैतालीस साल तक तो सफलता का आसार रहे पैतालीस साल के बाद हार शुरू हो जाए उनका आप क्या कहते मेरे गुरु ने तो मुझे कहा है कि ये थोड़े ही दिन का उपद्रव जवानी चली जाएगी झंझट खत्म हो जाए तो मैंने कहा कि जब तुम पैतालीस के हो जाओ तब फिर तुम मेरे पास आ जाओ अब वो पैतालीस के होके मेरे पास आए थे वो कहने लगे कि आपने ठीक कहा मुसीबत बढ़नी शुरू हो गई पूछने लगे कि मेरी समझ में नहीं आता इसका गणित क्या है क्योंकि तीस साल में इतनी मुसीबत नहीं थी अब पैतालीस में उससे ज्यादा हो गया तो मैंने उनसे कहा कि तीस साल में तुम्हारे पास लड़ने की शक्ति ज्यादा पैतालीस साल में कम हो और जिससे तुम लड़ रहे हो वो शक्ति उतनी की उतनी तुम लड़ लड़ के चुप रहे हो काम वासना को दबा दबा के परेशान हो रहे हो वो दबाने वाला कमजोर होता जा रहा है और वासना अपनी जगह पड़ी पैतालीस साल के बाद ब्रह्मचारियों को बड़ा कष्ट से और असली तकलीफ तो साठ के बाद शुरू होती आमतौर से लोग सोचते हैं तब तो साठ साल का हो गया फला आदमी अभी तक परेशान असली परेशानी ही तब शुरू होती क्योंकि वो दबाने वाली ताकत छीन हो गई वो लड़ने वाला कमजोर हो गया लड़ लड़ के हार गया थक गया वो जो दबाता था हार चुका है और जिसको दबाता था वो ताजा है जो लोग काम वासना को भोग लेते हैं वे शायद साठ साल में काम वासना के बाहर भी हो जाते लेकिन जो लड़ते रहते हैं वो मरते दम तक बाहर नहीं हो पाते क्योंकि उनकी काम वासना जवान ही बनी रहती है वो तो बूढ़े हो जाते वो तो थक जाते टूट जाते और वासना बड़ी ताकतवर बन जाती तब बेचैनी शुरू होती तकलीफ शुरू होती लड़कर भीतर आप सिर्फ उपद्रव कर सकते और जीवन समय और अवसर खो सकते हैं लड़ने का सवाल नहीं है समझ का सवाल है लड़ने की बात ही गलत है द्वंद खड़ा करना ही गलत है ऐसा भी सोच लो कि इसे रोकना है गलत क्योंकि जिसे आप रोक रहे हैं वो भी आप है और जो रोक रहा है वो भी आप ऐसा ही जैसे मैं अपने दोनों हाथों को लड़ाने लगू कौन जीतेगा बाया या दाया कोई भी नहीं जीत सकता हाँ ये हो सकता है कि मैं एक ऐसी परंपरा में पला हूं जहां मैंने सुन रखा हो कि दाया हाथ गलत है जहां मैंने सुन रखा हो कि दाया हाथ गलत या दाया गलत एक ठीक है और एक गलत है तो मैं पूरा का पूरा वजन अपना उस हाथ पर रख लूंगा जो ठीक मैंने सुन रखा है और जो हाथ गलत है उसको वजन नहीं दूंगा लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है वो हाथ मेरा ही है और वजन दू या ना दूं चाहे मैं अपनी ताकत पूरे दाएं तरफ से लगाऊं तो भी बाया मेरा और मैं ना भी लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता मजे की बात यह है कि जब मैं ताकत बाया हाथ को न दूंगा और दाया हाथ को दूंगा तो थोड़ी देर में दाया हाथ थक जाएगा और बाया ताजा रहेगा क्योंकि जिसको ताकत दी गई वही थकेगा बाया थकेगा नहीं आखिर में कहूंगा कि बाया जीत जाएगा जरा की ताकत और बाया दाया को नीचे कर दे इसलिए ब्रह्मचरी में लड़ने वाले लोगों पर काम वासना क्षण भर में जीत जाती है इसमें नहीं लगती भोगी को प्रभावित करना बहुत मुश्किल है इंद्र भोगियों के पास जरा अफसराओं को भेज के देखें वो बैठ जाते तो सिगरेट ही पीते रहे मगर ऋषि मुनि बड़ी मुश्किल में पड़ जाते एकदम मुश्किल में पड़ जाते तो उनको उनको हिलाने में दिक्कत ही नहीं होती खूबी अप्सराओं की नहीं खूबी ऋषि मुनियों की वो जिस बुरी तरह दबा के बैठे हैं जिससे दबाया है वो कमजोर हो गया और जिसको दबाया है वो ताकत से रहा है और अप्सराएं भेजने की कोई जरूरत नहीं है कोई भी स्त्री काम करे थी और वो जो ऋषि मुनियों को अप्सराएं बहुत सुंदर दिखाई पड़ी है वो अप्सराएं सुंदर थी इसका पक्का सबूत नहीं ऋषि मुनियों की वासना प्रगाढ़ थी इसका सबूत वो प्रगाढ़ वासना किसी भी चीज को सुंदर कर सकती स्त्री होना काफी प्रजुट से है सौंदर्य तो वो भीतर का पृथ्वी पर भी बाहर भूखियों के पास भेजना बहुत मुश्किल इसलिए आजकल इंटरनेट भेजना बिल्कुल बंद कर दी आपको कहीं अफसराए दिखाई ना पड़ेगी क्योंकि तो किसको भेजिए कोई जगाने को है ही नहीं कोई अकड़ के बैठे नहीं जिसको हिलाना हो लोग इतने हिल चुके हैं कि अप्सरा को देख के सो जाएंगे इतने थके होंगे बैठे भोगी भ्रष्ट नहीं होता आपने कभी भ्रष्ट भोगी शब्द सुना भ्रष्ट योगी शब्द सार्थक कारण क्या होगा संघर्ष लड़ाई की दृष्टि अंतर जगत में घातक है और साधक को सावधान होने की जरूरत है कि भीतर वो लड़ना शुरू कर और भीतर किसी तरह का द्वंद खड़ा ना करे दुश्मन खड़ा ना करे भीतर जो भी है उसे आत्मसात कर ले अपने में काम वासना है तो भी मेरी क्रोध है तो भी मेरा जो भी है भीतर वो मैं हूं मेरा है कहना भी ठीक नहीं मैं हूं और उस सब के साथ मुझे एक आत्म एक आत्मिक संबंध और उस सब के साथ एक गहरी मैत्री एक आत्मीयता एक निकटता एक अपनापन निर्मित करना और जैसे जैसे ये आत्मीयता इकट्ठी होने लगती है वैसे वैसे वासना की जो शक्ति बाहर बहती वो बाहर में बहकर भीतर बहने लगती है अभी वासना की शक्ति बाहर भी बहती है क्योंकि रस आपका बाहर है और जब रस आपका भीतर होता है तो यही शक्ति भीतर बहने लगती है जो वासना अभी काम बन जाती है वही वासना राम भी बन जाती है सिर्फ अंतर है उसके बाहर और भीतर बहने का अभी मैं दूसरे में उत्सुक हूं तो मेरी वासना की शक्ति उस तरफ बहती है और जब मैं अपने में उत्सुक हूँ स्वयं की खोज में लीन हूँ तो वही शक्ति मेरी तरफ बहने लगती लेकिन वो बहेगी तब जब मैत्री का एक द्वार खुला वो बहेगी तब जब मैत्री की एक रेखा खींची हो जिससे वो भीतर आ जाए दुश्मन की तरह वो भीतर नहीं आ सकती दुश्मन की तरह उसके लिए कोई निमंत्रण नहीं अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति की सारी शक्तियों को सहज आनंद से स्वीकार कर ले परमात्मा की देन मानकर अहोभाव से स्वीकार कर ले तो वो पाएगा कि वासनाओं को जीतने की जरूरत नहीं तो जीतने की बात ही फिजूल अपनी ही वासनाओं को खुद जीतने का क्या सवाल है मेरी ही वासनाएं मैं उन्हें बाहर की तरफ ले जाता हूँ वो बाहर जाती मैं भीतर में उत्सुक हो गया वो भीतर आने शुरू हो जाता और जब अपनी ही वासनाओं की ऊर्जा भीतर की तरफ बहनी शुरू होती और जब कामना आत्म कामना बनती तब जिनको हमने आप काम कहा है उस अवस्था की उपलब्धि होती आप काम का अर्थ है जिसकी सारी काम वासना अंतर्मुखी हो गई जो अपनी काम वासना का स्वयं ही लक्ष्य हो गया अब जिसकी सारी नदियां अब किसी और सागर की तरफ नहीं जाती अपने भीतर के सागर में ही गिर जाती जो संतुष्ट है वह धनवान जो दृढ़मती है वह संकल्पवान जो अपने केंद्र से जुड़ा है वह मृत्युंजय है और जो मरकर जीवित है वह जीवन को उपलब्ध होता है जो संतुष्ट है वह धनवान इस वचन को हम बहुत सुनते हैं लोकोक्ति बन गया लेकिन हम समझते हैं इसमें शक है लोग समझाते हैं तो वो भी समझते हैं इसमें शक है संतोष बड़ा धन है और संतुष्ट व्यक्ति सदा सुखी है ऐसा हम सुनते हैं और कोई दुखी होता तो उसको भी हम कहते हैं संतोष रखो क्योंकि संतोष से बड़ा सुख मिलता है ध्यान रहे संतोष से सुख मिलता है ये बात गलत है संतोष व्यक्ति सुखी होता है ये बात सही है लेकिन संतोष से सुख मिलता है ये बात गलत है इस फर्क को आप समझ लेंगे तो इस सूत्र का रहस्य ख्याल में आ जाएगा संतोष से सुख मिलता है ऐसा हम समझाते हैं कोई दुखी है परेशान है हम कहते संतुष्ट हो संतोष से सुख मिलेगा संतोष से बड़ा धन नहीं आप कह क्या रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि तेरे लोग को तू संतोष की तरफ लगा क्योंकि संतोष तो सुख मिलेगा और तू सुख चाहता है तो संतुष्ट हो जाए लेकिन ध्यान सुख पर है पाना सुख इसके दुख का कारण यह वो सुख चाहता था कोई जो नहीं मिला इसलिए दुखी है सुख चाहने के कारण दुखी है और हम उससे कह रहे हैं सुख तुझे चाहिए हो तो संतुष्ट हो जा हम संतुष्ट होने की भी बात इसलिए कह रहे हैं कि तू ताकि सुख पा सके सुख की वासना को हम जलाए हुए उसको हम प्रेम दे रहे हैं उस लौ को हम और उकसा रहे हैं उसी के कारण वो दुखी है तो ध्यान रहे संतोष से सुख मिलेगा ये बात गलत है हाँ संतुष्ट जो है वो सुखी है ये बात सच है संतोष कारण नहीं है और सुखकारी नहीं है संतोष सुख के बीच जो संबंध है वो कार्य कारण का नहीं है कि आप संतुष्ट हो जाएं तो आप सुखी हो जाए संतोष और सुख के बीच जो संबंध है वो वैसा है जैसा आपकी और आपकी छाया के बीच वो कार्य कारण का नहीं है जहां आप है वहां आपकी छाया है सुख संतोष की छाया है उसका फल नहीं है इसलिए जो आदमी सुखी होने के लिए संतुष्ट होगा वो ना तो संतुष्ट होगा और ना सुखी होगा तो उसका ध्यान ही गलत सुख की जहां कामना है वहां संतोष हो ही नहीं सकता संतोष का मतलब ही यह है कि सुख की हमारी कोई मांग नहीं है संतोष का मतलब ये कि जो हमारे पास है उसमें सुख भोगने की कला हम जानते हैं तो फर्क को समझ लें संतोष का मतलब सुख की कला जहां भी हम हो जो भी हमारे पास उसमें सुख लेने की कला एपिकोरस यूनान का सबसे बड़ा भौतिकवादी दार्शनिक हुआ ठीक चारवाक जैसा पर न तो चारवाक को लोग समझ पाए अब तक और न एपिकोरस को समझ पाए एपिकोरस कहता है कि सुखी रहो हमें लगता है कि भोगवादी है पर पुरुष कुछ बात ही बड़ी गजब की कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो भी है उसमें सुख ले लो पूरा वही चारवाक ने भी कहा है कि जो भी तुम्हारे हाथ में है उससे पूरा सुख निचोड़ लो सुख को आगे का मत टालो क्योंकि जो समय खो जाएगा उसे तुम पा ना सकोगे और टालने की आदत अगर बन गई तो तुम टालते ही चले जाओगे तुम कभी सुख पा ना सकोगे संतुष्ट होने का मतलब यह है कि जो तुम्हारे पास है उससे तुम इतना सुख ले लो कि संतोष झर जाए डर जाए तुम सालों मत आगे और तुम संतुष्ट होने की कोशिश करोगे ताकि कल सुख मिले तो तुम न संतुष्ट हो सकते हो न सुख पा सकते हो तुम सुख आज ही पालो तुम संतुष्ट हो जाओ क्योंकि जब सुख भविष्य में नहीं होता तो असंतुष्ट होने का कारण नहीं रह जाता भविष्य का सुख असंतुष्ट होने का कारण भविष्य की अपेक्षा फ्रस्ट्रेशन का विषाद का कारण इपिकुरस से मिलने यूनान का सम्राट गया था देख के दंग हुआ उसने भी सोचा था ये नास्तिक इपिकुरस न ईश्वर को मानता न आत्मा को मानता सिर्फ आनंद को मानता है बिल्कुल निपट नास्तिक है तो सोचा था उसने पता नहीं ये क्या कर रहा होगा जब वे पहुंचे वहां तो बहुत हैरान हुए इपिकुरस का बगीचा था जिसमें उसने शिष्य और वो रहता था सम्राट ने उसे देखा तो वो इतना शांत मालूम पड़ा जैसा कि ईश्वरवादी कोई साधु कभी दिखाई नहीं पड़ा वो बहुत खुश हुआ उसके आनंद को देख उनके पास कुछ ज्यादा नहीं था लेकिन जो भी था वो उसके बीच ऐसे रह रहे थे जैसे सम्राट सम्राट ने कहा कि मैं कुछ भेंट भेजना चाहता हूँ डरता था सम्राट कि इतनी पुरुष से तो कहना कि भेद भेजना चाहता हूँ जो भौतिकवादी पता नहीं साम्राज्य जी मांगे डरता था तो उसने कहा फिर भी उसने कहा कि आप जो कहें मैं भेज दू तो पुरुष बड़े सोच में पड़ गया उसके माथे पर कहते हैं ताकि दफा चिंता आई उसने आंखें बंद कर ली उसके माथे पर बल पड़ गए और सम्राट ने कहा आप इतने दुखी क्यों हुए जा रहे तो इसी को उसने कहा जरा मुश्किल है क्योंकि हम भविष्य का कोई विचार नहीं करते और आप कहते हैं कुछ मांग लो कुछ आप भेजना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल में आपने डाल दिया हमारे पास जो है हम उसमें आनंद लेते हैं और जो हमारे पास नहीं है उसका हम विचार नहीं करते अब उसमें मुझे विचार करना पड़ेगा जो मेरे पास नहीं है आपसे मांगने का उसने कहा कि एक एक ही रास्ता है एक नया नया आदमी आज ही आश्रम में भर्ती हुआ वो अभी इतना निष्णात नहीं हुआ उससे हम हैं मगर मैं जो नया नया आश्रम में आया था पुरुष के ही आश्रम में आया था सोच समझ के आया था उसने भी बहुत सोच समझ के ये कहा कि आप ऐसा करें थोड़ा मक्खन भेज दे यहाँ रोटियां बिना मक्खन की सम्राट ने मक्खन भेजा नहीं वो मक्खन साथ लेके आया वो देखना चाहता था कि मक्खन का कैसा स्वागत है उस दिन आश्रम में ऐसा था जैसे स्वर्ग उतर आया वो सब नाचे आनंदित हुए मक्खन रोटी पर था तो सम्राट अपने संस्मरण में लिखवाया है कि मुझे भरोसा नहीं आता कि मैंने जो देखा वो सत्य था या सब क्योंकि मेरे पास सब कुछ है और मैं इतना आनंदित नहीं हूं और उस रात सिर्फ रोटी पर मक्खन था वैसे इतने आनंदित थे जो है उसमें सुख लेने की कला संतोष संतोष का मतलब समझ रहे संतोष कोई अपने आप को समझा लेना नहीं कोई कंसोलेशन नहीं है कि अपने मन को समझा लिया कि नहीं है अपने पास तो उसकी क्या मांग करना जो नहीं है वो नहीं है जो है इसी में भगवान को धन्यवाद दो वैसे मन में लगा ही है कि वो होना चाहिए क्योंकि जो नहीं है उसका भी क्या विचार करना है जो नहीं है उसका कोई विचार नहीं और जो है उसका रस उस रस में लीन हो जाने से संतोष जन्मता है और संतोष सुख संतोष धन है असंतुष्ट सदा निर्भर है उसके पास कितना ही हो क्योंकि वो जो है उसका तो हिसाब ही नहीं रखता वो तो जो नहीं है उसका हिसाब रखता है तो असंतुष्ट सदा निर्भर है क्योंकि अभाव का हिसाब रखता है वो जो नहीं है उसका हिसाब संतुष्ट धनवान है क्योंकि वो उसका ही हिसाब रखता है जो है और जो है वो इतना है कि आपने कभी उसका हिसाब नहीं रखा इसलिए आपको पता नहीं सुना है एक सूफी फकीर से एक युवक ने कहा कि मैं आत्महत्या कर लेना चाहता हूँ क्योंकि जिंदगी में कोई रस नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है और फकीर ने कहा तू घबरा मत एक सम्राट से मेरी पहचान है और जो तेरे पास है तुझे परख नहीं लेकिन मुझे परख में बिकवा दूंगा उसने कहा कि मेरे पास कुछ है नहीं बिकवा क्या देंगे देखते हैं खाली हूं बिल्कुल झोला भी मेरे पास नहीं है जिसमें कुछ रख सकू उसने कहा तू फिक्र न कर मेरे साथ वो उसे महल के दरवाजे पर ले गया भीतर से लौट के आया और उसने कहा कि एक लाख अगर दिलवा दू तो क्या ख्याल और उसने कहा कि बेच कौन सी चीज रहे उस सूफी फकीर ने कहा कि तेरी आंखों का सौदा कराया सम्राट कहता एक लाख में खरीद लेंगे दोनों उसने कहा क्या कहते हाँ दस लाख में भी मांगता हो तो मैं बेच नहीं सकता वो सीधी फकीर कहने लगा अभी तो कह रहा था मेरे पास कुछ है नहीं और अब तू दस लाख में रोज बेचने को तैयार नहीं मैं तेरा कान भी बिकवा सकता हूँ तेरी जान भी बिकवा सकता हूँ और भी कई चीजें हैं जो मैं बिकवा सकता हूँ तू बोल ग्राहक मेरी नजर नहीं सबका करोड़ रुपए के ढेर लगवा दूंगा तेरे पास उस आदमी ने कहा कि तू और खतरनाक तो उससे तुम्हें मर जाता वो कहता आपसे कहा तो मेरी मुलाकात हो गई आपके पास जो है उसका आपको तब तक पता नहीं जब तक वो छीन न लिया जाए ये बड़े मजे की बात आपकी आंख चली जाता है आपको पता चलता है आंख थी कई लोगों को मर के पता चलता है हम जिंदा थे उसके पहले उनको पता नहीं चलता जो आपके पास है वो दिखता भी नहीं उसका हिसाब ही नहीं वो हमारी आदत ही नहीं संतोष का अर्थ है जो है उसका रस उसका बोध असंतोष का अर्थ है जो नहीं है उसका रस उसका बोध और संतोष धन और जो द्रगमती है वो संकल्पवान है He who is determined has a strength of will. जो निश्चय करने की क्षमता रखता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निश्चय क्या है निश्चय की क्षमता है आपके पास बिल्कुल निश्चय की क्षमता नहीं है अगर आप ये भी निश्चय करें कि इस उंगली को पांच मिनट तक सीधा रखेंगे आप हजार दफा हिला डालेंगे उतना भी कि दो मिनट में आंख खुली रखूंगा तो बस आंख जवाब देने लगेगी आप हजार कारण निकाल लेंगे और आंख को झपका लेंगे डिसीजन कि कोई निर्णय लिया तो उस निर्णय को टिकने देना निर्णय के टिकने देने में आप इकट्ठे होते हैं संकल्प पैदा होता है सच कहे तो आत्मा पैदा होती है चाहे वो कितना ही छोटी बात क्यों ना हो छोटी और बड़ी बात का सवाल नहीं है जब आप किसी बात पर एक निर्णय लेते हैं और निर्णय लेते ही विकल्प का कोई सवाल नहीं रह जाता बात तो समाप्त हो गई अब लौटने का कोई उपाय न रहा ऐसी भाव दशा में आप इकट्ठे हो जाते हैं आप टूट नहीं सकते लेकिन अभी आप छोटा सा भी निर्णय लेते हैं तो जब आप निर्णय ले रहे हैं तब भी आप भली भांति जानते हैं कि चलने वाला नहीं ये बड़े मजे की बात जब आप ले रहे हैं तब भी आप जानते हैं कि चलने वाला नहीं ये जो भीतर से कह रहा है कि चलने वाला नहीं यही उसको मिटाएगा यही उसको तोड़ेगा सुना है मैंने कि विवेकानंद का एक प्रवचन एक बूढ़ी औरत ने सुना वो भागी हुई घर गई क्योंकि विवेकानंद ने बाइबल का एक वचन उद्धत किया था और कहा था कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स विश्वास से पहाड़ भी हटाए जा सकते उस बुरी औरत के मकान के पीछे एक पहाड़ी थी उसने सोचा कि हद होगी अब तक इसका अपने को पता ही नहीं था अगर विश्वास से पहाड़ी हटाई जा सकती हटाओ इस पहाड़ी वो भागी हुई घर पहुंची उसने खिड़की से आखिरी बार पहाड़ी को देखा क्योंकि फिर जब प्रार्थना कर चुके थे तो पहाड़ी हट चुकी फिर उसने खिड़की बंद की और प्रार्थना की और फिर उठ के देखा पहाड़ी वहीं के वही थी उसने कहा हमें पहले से पता था कि ऐसे कहीं कोई पहाड़ी न पहले से ही पता तो शेर का क्या मतलब होता है और मैं आपसे कहता हूं पहाड़ी हट सकती उस बूढ़ी औरत के कारण ही न हटी भीतर निश्चित ही श्रद्धा पहाड़ को हटा सकती पहाड़ों से भी बड़ी चीजें हम उनको हटा सकते लेकिन श्रद्धा का मतलब होता है एकजुट एक भाव जहां कोई द्वंद्व नहीं भीतर जहां कोई दूसरा स्वर नहीं ध्यान रखना में जो दूसरा स्वर है वो उपद्रव है जब आप किसी को साथ विवाह कर रहे हैं तब भी आप भीतर तनाव का फॉर्म भर रहे हैं जब आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तब भी आप को पता है कि आप जो कह रहे हैं ये सच नहीं हो सकता ये है नहीं मित्रता का एक हाथ बढ़ा रहे और दूसरा हाथ दुश्मनी के लिए तैयार रखा हुआ है टूटे हुए खंड खंड यही खंडित व्यक्तित्व जो है यही दरिद्रता है अखंड व्यक्तित्व समृद्धि है जो दृढ़मती है वही संकल्पवान और जो अपने केंद्र से जुड़ा रहता है वह मृत्युंजय है जिसने अपने केंद्र के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया नहीं टूटने दिया जिसकी जड़ नहीं उखड़ी स्वयं के केंद्र से उसकी कोई मृत्यु नहीं क्योंकि मृत्यु केवल परिधि की है केंद्र की मृत्यु नहीं है मृत्यु केवल आपके व्यक्तित्व की है आपकी कभी भी नहीं है मरते हैं आप इसलिए कि आप जिससे अपने को जोड़े हो वो मरण धर्म है और जो आपके भीतर अमृत है उसके उस पर आपका कोई ध्यान नहीं है ये जो स्वयं की अंतर यात्रा है विद्युता को अलग करें ज्ञान को ध्यान में लें दूसरे को जीतने की चिंता छोड़ें स्वयं की विजय की यात्रा पर निकले धन धन में नहीं संतोष में है और संकल्प में है निर्णयात्मक बुद्धि में आपकी आत्मा है ऐसी दृष्टि हो और ऐसी यात्रा हो तो आप अपने केंद्र से पुनः जुड़ जाएंगे जुड़े हुए हुए स्मरण आ जाएगा प्रतिभिज्ञा हो जाएगी और उस प्रतिभिज्ञा का अर्थ है कि आप मृत्युंजय और जो मरकर जीवित है वह चिर जीवन को उपलब्ध होता है और आपको अपनी परिधि पर मरना होगा तो ही आप अपने भीतर छिपे चिर जीवन को जान सकेंगे आपको अपनी इंद्रियों से मरना होगा तो आप अपने अतिद्रीय जीवन को जान सकेंगे आपको अपने मन में मरना होगा तो आप अपने आत्मा के अमृत को जान सकेंगे जीसस ने कहा है जो बचाएगा अपने को वो खो देगा और जो खोने को राजी है उसको मिटाने का कोई भी उपाय नहीं मरने की कला भी सीखनी चाहिए तो ही हम जीवन के परम रहस्य को जान पाते मरने की कला का अर्थ है परिधि पर बाहर दूसरों की तरफ से मर जाना सिर्फ एक ही बिंदु जीवन का रह जाए वो मेरे भीतर के चैतन्य का केंद्र और सब तरफ से मैं अपने को समेट लू और मर जाऊ एक क्षण को भी ये घटना घट गट जाए कि बाहर की दुनिया समाप्त हो गई सब मर गया सब मर गए और सिर्फ मेरी एक ज्योति जलती रह गई फिर मेरे लिए मृत्यु नहीं फिर मैं वापस लौट आऊंगा इस मुर्दों की दुनिया में वापस आ जाऊंगा लेकिन फिर मैं मरने वाला नहीं एक क्षण का भी अनुभव हो जाए स्वयं के श्लोक का तो अमृत उपलब्ध हो गए अमृत की खोज लोग करते कि कहीं अमृत मिल जाए कहीं पारे में छिपा हो किसी रसायन में छिपा हो एक बूढ़े सज्जन को मैं जानता रहा हूँ जैसे जैसे उनकी मौत करीब आती वो और तबलाते जाते वो जब भी मुझे मिलने आते थे बस वो एक ही उनकी बात थी कि अमृत जैसी कोई चीज है रसायन विधि से आदमी सदा जीवित रह सकता है वो बताइए मैं उनको कहा कि आपको तो मरना ही होगा क्योंकि जिस जगह आप अमृत खोज रहे हैं वहां तो मृत्यु भी है कोई रसायन विधि अमृत तो नहीं दे सकती लंबाई दे सकती जिंदगी को अमृत नहीं दे सकती और लंबाई से कुछ हल नहीं होता लंबाई से मुसीबत बढ़ती है क्योंकि तो जितनी लंबाई होती है उतनी ही मौत ज्यादा दिनों तक पीछे करती जो आदमी एक ही साल की उम्र में मर गया उसको शायद मौत का पता ही नहीं लेकिन जो आदमी सौ साल में मरेगा उसने सौ साल मौत को अनुभव किया सौ साल डरा बामुश्किल मर रहा आपको पता है अभी अमेरिका में उन्होंने एक सर्वे किया तो उन्होंने देखा कि 35 साल की उम्र में 100 आदमियों में से केवल 20 आदमी आत्मा की अमरता में भरोसा करते हैं सौ में से केवल 20 पैंतीस साल की उम्र में पचास साल की उम्र में सौ में से चालीस भरोसा करते सत्तर साल की उम्र में सौ में से अस्सी भरोसा करने लगते और सौ साल के ऊपर उन्होंने जितने आदमी मिले उनमें एक भी नहीं मिला जो आत्मा की अमरता में भरोसा न करता हो जैसे जैसे मौत डराने लगती वैसे वैसे आत्मा अमर ऐसा भरोसा आदमी कर पैंतीस साल की उम्र में अकल होती मौत का कोई भय नहीं होता सौ साल में सभी की कमर टूट सकती मौत काफी प्रगाढ़ हो जाती मैं उनको कहता था कि आप बाहर मत खोजें बाहर खोजने से कोई कभी अमृत को उपलब्ध नहीं होता अमृत जरूर मिल सकता है लेकिन वो रसायन में नहीं वो किसी वनस्पति में नहीं छिपा है और वो किसी अलकहने की कला में नहीं छिपा है अमृत जरूर उपलब्ध है लेकिन वो स्वयं के भीतर और वो उसे उपलब्ध होता है जो मर कर जीवित है जो बाहर की परिधि पर मर जाता है और सिर्फ भीतर के जीवन में जीता है वह चिर जीवन को उपलब्ध होता है पांच मिनट की